विक्रांत नहीं नैना जोर से चीख पड़ी जब उसने देखा कि तारिक ने विक्रांत के ऊपर पत्थर से हमला कर दिया है तो वो काफी घबरा उठी लेकिन इस घबराहट को गुस्से में बदलने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा और नैना गुस्से से दहाड़ते हुए तारिक की तरफ घूम गई उसने देखा कि तारिक विक्रांत के ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए अपने हाथ में क्रॉसबो लेकर खड़ा था लेकिन जैसे ही उसकी नजर नैना पर पड़ी वो काफी घबरा उठा उसने जल्दी से क्रॉसबो को एक तरफ फेंका और अपने हाथ में गोल्डन पिलर को लेकर बाहर की तरफ भागने लगा उसे भागता देख नैना ने तुरंत ही अपने राइफल को लोड किया और फिर बिना किसी देरी के उसने तारिक के पैर में शूट कर दिया वो जमीन पर धराशायी होकर गिर पड़ा और पलक झपकते ही नैना ने उसके करीब जाकर उसका कॉलर पकड़ लिया लेकिन अभी भी तारिक ने हार नहीं मानी थी उसने गोल्डन पिलर से ही नैना पर हमला करने की कोशिश की लेकिन नैना पहले से ही इसके लिए तैयार थी उसने राइफल के बट से उसके सिर पर वार कर दिया आ, तारिक दर से करा उठा उसकी चीख निकल उठी अब भी वो उठना चाहता था लेकिन अब शायद ही वो उठ पाएगा तारिक बेहोश होकर जमीन पर धराशायी हो गया लेकिन उधर अपने बॉस को इस तरह घायल होते हुए देख तारिक के आदमी नैना पर टूट पड़े तीन चार आदमी तेजी से नैना की तरफ भागते हुए चले आ रहे थे तभी अचानक से किसी ने उनके रास्ते में अपना पैर अड़ाते हुए एक आदमी को जमीन पर गिरा दिया और फिर दूसरे आदमी के गर्दन में अपना रस्सी से बंधा हुआ हाथ डालते हुए उसे रोक लिया ये कोई और नहीं गुरुजी था काफी देर से वो शांत बैठा था लेकिन अब वो भी अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करने लग गया उसने अपने सामने खड़े आदमी के गले में अपने हाथों को फंसाकर उसके सिर को अपने घुटनों पर ले जाकर पटक दिया और फिर जैसे ही वो आदमी नीचे की तरफ झुका उसने तुरंत ही अपनी कोहनियों से पूरी ताकत से उसकी पीठ में धसाते हुए उसे जमीन पर चित्त कर दिया पहली नजर में तो यही लग रहा था कि गुरुजी यानी कि गणेश महात्रे नैना की मदद कर रहा है लेकिन वास्तविकता ये थी कि तारिक के आदमी उसकी भी जान के दुश्मन बने हुए थे और इधर विक्रांत और नैना भी उसकी जान के दुश्मन बने हुए थे ऐसे में वो मौके का फायदा उठाकर खुद के लिए भागने का मौका तलाश रहा था लेकिन गुरुजी का इंटेंशन कुछ भी रहा हो लेकिन इस वक्त उसके एक्शन से नैना को मदद मिल रही थी विक्रांत को घायल देखकर उसका पारा बहुत हाई हो चुका था उसने अपनी राइफल को फिर से मैगजीन में लोड किया और फिर तड़ातड़ गोली चलाते हुए तारिक के एक एक आदमी को शूट करने लगी कुछ ही देर में उसने तारिक के तीन चार गुर्गों को जमीन पर मौत की नींद सुला दिया पहली गोली नैना ने उस आदमी पर चलाई जिसको गणेश महात्रे ने अपनी टांग फंसाकर जमीन पर गिराया था गोली लगते ही वो तड़पड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा इसके बाद नैना ने दूसरा फायर उस आदमी के ऊपर झोंका जिसे कोहनी मारकर गणेश ने धराशाही किया था तड़ाक उसे जमीन से दोबारा उठने का मौका भी नहीं मिला और गोली उसकी पीठ में जा धसी इसके बाद नैना ने तीसरी गोली गुरुजी यानी कि गणेश महात्रे के कंधे में मार दी ताकि वो मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग ना पाए गोली लगने के बाद भी गुरुजी के भागने की रफ्तार धीमी नहीं हो रही थी तो फिर नैना ने एक गोली उसकी जांग में भी पीछे की तरफ से चला दिया दर से कराता हुआ गुरु जमीन पर चित होकर पड़ गया इसके बाद नैना ने एक और गोली चलाई जो की सीधे ही एक आदमी के माथे पर जा लगी उसे हिलने तक का मौका नहीं मिला और पल भर में ही उसके प्राण ने शरीर का साथ छोड़ दिया अब नैना के सामने सिर्फ दो दुश्मन बचे थे जिसमें से एक तो निहत्ता था और वो नैना का भयानक रूप देखकर इतना डरा हुआ था कि कुछ भी करने की हिम्मत में नहीं था लेकिन नैना ने इस बात को कंफर्म करने के लिए सीधे ही उसके माथे पर शूट कर दिया जिससे वो खड़े ही जमीन पर पट्ट करके गिर गया इसके बाद दूसरे वाले ने नैना के माथे पर लाकर बंदूक सटा दिया अभी वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि नैना ने बेहद फुर्ती दिखाते हुए अब उसके पेट में जोर की लात मार दी वो हवा में उछलता हुआ फीट भर की दूरी पर जा गिरा फिर नैना ने लपक कर उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लिया और फिर तुरंत ही उसके सिर में शूट कर दिया तड़ाक आ जमीन पर खून की धारा बहनी शुरू होगी अब यहाँ कोई और दुश्मन नजर नहीं आ रहा था सो नैना अंदर झील की तरफ बढ़ने लगी लेकिन तभी उसने देखा कि गणेश महात्रे अभी भी हलचल करता हुआ दिख रहा था नैना ने उछलकर अपने घुटने मोड़ते हुए खुद को गणेश की जांगों पर लैंड करवा दिया जिससे उसकी जांग में धसी हुई गोली इंच भर और अंदर जाग धसी और अब शायद ही वो कुछ हरकत करने की हालत में बचा था इसके बाद नैना तेजी से भीतर की तरफ भागी वहां पर एक तरफ विक्रांत मरणासन्न पड़ा हुआ था नैना विक्रांत के करीब जाना चाहती थी लेकिन तभी उसने देखा कि झील में से वो दोनों आदमी बाहर आने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें विक्रांत ने शुरू में ही धकेल दिया था ये दोनों पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जब इन्होंने नैना के एक हाथ में लोडेड राइफल और दूसरे हाथ में रिवॉल्वर देखा तो फिर अपनी जान बचाने के लिए ये वापस से झील में ही कूद पड़े लेकिन नैना अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी इसलिए उसने रिवॉल्वर और राइफल का एक साथ चलाते हुए उन दोनों को शूट कर दिया पानी में छपाक की आवाज सुनाई पड़ी और कुछ ही पल में इसमें लाल रंग तैरता हुआ दिखाई देने लगा इससे नैना ने इधर उधर नजर डाली लेकिन अब यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था तो उसने अपने हाथ में लिया हुआ रिवॉल्वर और राइफल नीचे फेंक दिया और फिर विक्रांत की तरफ दौड़ पड़ी विक्रांत विक्रांत विक्रांत नैना ने जल्दी से विक्रांत के करीब पहुंचकर उसके सिर को अपने जांघों पर रख लिया उसकी आंखों से आंसू टपकने शुरू हो गए थे और जुबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज था विक्रांत उठो उठो प्लीज विक्रांत उठो ना लेकिन विक्रांत के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी नैना के मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल उठ रहा था कि विक्रांत की मौत हो चुकी है इस ख्याल के साथ ही उसका दिल सेहर उठा था फिर वो और जोर जोर से विक्रांत का नाम लेकर चीखने लग जाती है विक्रांत विक्रांत उठो तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते उठो Vikrant please please ah Vikrant का नाम लेते हुए नैना बहुत जोर जोर से रोने लगी इस वक्त उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे और क्या क्या नहीं एक ही पल में उसके दिमाग में विक्रांत की सारी बातें उनके हंसी मजाक उनका फ्लर्ट सब कुछ घूमने लग गया आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे और वो विक्रांत का कॉलर पकड़कर बार बार उसे खींचते हुए उठाने की कोशिश कर रही थी लेकिन विक्रांत के शरीर में कोई भी हलचल होती नहीं दिख रही थी विक्रांत प्लीज उठ जाओ नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था सो उसने विक्रांत के होठों पर अपना मुंह रखते हुए उसे सांस देने की कोशिश करने लगी लेकिन फिर भी उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था नैना ने रोते रोते तकरीबन दस बारह बार विक्रांत के मुंह में हवा भरने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं मिला नैना के दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी उसके रोने की आवाज तो नहीं आ रही थी लेकिन आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे विक्रांत तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते नहीं विक्रांत तुम्हें उठना होगा तुम तुम नैना ने फटाफट विक्रांत के शर्ट का बटन खोल दिया और फिर उसकी छाती पर अपने दोनों हाथों को रखकर उसे झटका देने लगी विक्रांत उठो उठो हर झटके के साथ नैना के मुंह से ये शब्द निकल उठते थे वो लगातार बिना रुके विक्रांत की छाती पर जोर देते हुए उसके शरीर में जान फूंकने की कोशिश करने लगी तकरीबन दस बार ऐसे ही विक्रांत को होश में लाने की कोशिश करती रही विक्रांत तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते नैना ने ग्यारहवीं बार जैसे ही ये कहते हुए झटका मारा अचानक से विक्रांत की धड़कन चल पड़ी विक्रांत तुम तुम जिंदा हो तुम जिंदा हो जिंदा हो तुम नैना के दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी लेकिन अभी भी उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे और उसके गाल आंसुओं से भीगे हुए थे विक्रांत की आंखें धीरे धीरे खुल उठी खुलते ही उसने कहा अभी कैसे मर सकता हूं मैं जब तक तुम्हारे साथ सेक्स नहीं कर लेता तब तक मुझे कुछ नहीं होगा नैना उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और उसने विक्रांत के सीने पर हाथ से मारते हुए कहा तुम नहीं सुधरोगे और फिर वो विक्रांत के गले लग गई कभी नहीं विक्रांत ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर उसने नैना की पीठ पर हाथ रखते हुए उसे खुद से और चिपका लिया नैना भी अब विक्रांत के शरीर के ऊपर पूरी तरह से लेट गई और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लग गए विक्रांत और नैना के होठ आपस में मिल चुके थे और ये दोनों एक दूसरे के प्यार के आगोश में खो चुके थे